श्रीगणेशाय नमः सर्वे तन्तु सर्वे सन्तु विरामयाः सर्वे पत्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःपवा भवेत् धेयस्य विराजते हि गरलम् गङ्गाजलं मस्तते तनया जाया भवानी स्थिता नन्दिगणाधिनाथसहितः केदारनाथ केदाराञ्चन संस्थितो हि सततं पुर्या मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पार्वतीनाथः सर्वमङ्गलमङ्गलम् ति सहसरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजातिविषयोपभोगरचना निद्रासमाधिस्थितिः निद्रा प्रदत्तिन विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्य कर्म करोमि तत् तदखिलम् तवाराधनम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्टते यह बात स्पष्ट करने की कृपा की शास्त्र अध्ययन यदि आत्मज्ञान के लिए या भगवत भक्ति के लिए किया जाता है तत्व तो परमात्मा के साक्षात्कार में आलंबन है और यदि वो लोकैषणा से दारेषणा से लोकैषणा से किए जाता है लोकैषणा माने लोक में हमारा जस बढ़े प्रतिष्ठा हो लोक पर लोक में और दारेषणा पुत्रेषणा दोनों एक हैं विवाह करने के लिए भी अध्ययन होता है पहले अध्ययन कर लेंगे फिर विवाह करेंगे काम पुरुषार्थ और वित्तैषा को अध्ययन कर लेंगे तो विश्व में हम सर्वोन्नत स्थान प्राप्त करेंगे और धन संपदा की भी प्राप्ति होगी इस दृष्टि से जो शास्त्र का अध्ययन है वो तो परमात्मा की प्राप्ति में स्थूल आलम्बन भी नहीं है क्योंकि आप जो चाहते हैं उसी के लिए वो सहारा देगा आपको तो वहां पहुंचा देगा तो भारतीय अथवा वैदिक संस्कृति की जो पद्धति थी वो तो ब्राह्मण न निष्कारणम सदंगो वेदो ध्येयो विनष्ट सदंग वेद का अध्ययन व्याकरण निरुक्त ज्योतिष संकल्प आदि के साथ संपूर्ण वेदों का अध्ययन निष्कारण अपना कर्तव्य समझ के ही करना चाहिए उससे अंतकरण शुद्धि होती है परमात्मा के बारे में जिज्ञासा होती है परमात्मा का ज्ञान और यदि सकाम भाव से अध्ययन करेंगे तो वो तो कल्प वृक्ष है आपको संसार भी करेंगे परमात्मा के लिए जहाँ शास्त्र का अध्ययन होता है वहाँ उपनिषदों में जो शरद कुमार और नारद की आख्यायिका है नारद जी ने सभी शास्त्रों का नाम प्राय दे दिया ऋग्वेदम भगवत यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वांग सब सब शास्त्रों के अध्ययन का वर्णन करके फिर उन्होंने कहा सोहम भगवत शोचा में शोक से परम पारम तारे भगवान इतने शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी मैं शोक से ग्रस्त हूँ मुझे आप शोक से पार बताइए ये नारद जी का प्रश्न है सनत कुमार के प्रति बहुत शास्त्रों का अध्ययन जो है वो परमात्मा की प्राप्ति का आलम्बन नहीं है ऐसे महात्मा देखने में आए हैं जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं भी किया है अभी आप लोगों के समय में रमण महर्षि रहे हैं आनंदमयी महा रहे हैं परमहंस रामकृष्ण देव रहे हैं हमारी दृष्टि में तो बहुत ऐसे महात्मा रहे हैं जिनको आप नहीं जानते हैं जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया तो महात्मा होने के लिए तो शास्त्रों का सार यदि ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ है तो गायत्री है और गायत्री का सार प्रणव है उपनिषद में एक तदालंबनम श्रेष्ठम एक तदालंबनम परम एक तदालंबनम ज्ञावा जो जदिक्षति तत्थ ओंकार ये परम आलम्बन है श्रेष्ठ आलम्बन है ओम इति आत्मान युंजीत ओम इति आत्मान उपासित नानोध्याया बहुन शब्दान वाचो विदिलापनम भीतर बहुत शब्दों का अध्ययन नहीं करना चाहिए क्योंकि जितने शब्द से जितने शब्द जीव से बोले जाएंगे वे जीव की शक्ति को वाक शक्ति को क्षण करेंगे और मन को विकीर्ण करेंगे विखेर देंगे इसलिए अकार उकार मकार में जागृत स्वप्न सुशुक्ति तीनों अवस्थाओं को समेट करके उसके द्वारा तुरीय का बोध है प्राप्त करना चाहिए क्योंकि शास्त्र बहुत है और उनके अध्ययन में विघ्न बहुत है अपने पास समय थोड़ा है संकष्ट कालो रहा तो हूं और ऋषियों के बड़े बड़े मत हैं इसलिए यदि मतभेद के चक्कर में कोई पड़ गया कि गौतम कणाद ठीक है कि कपिल पतंजलि ठीक है कि जैमिनी व्यास ठीक है तो और इनके जो अवान्तर मतभेद हैं और शाक्त हैं शैव हैं गणपत हैं कश्मीरी शैव हैं तो उनका अंत निकलता है इसलिए शास्त्रों को समेट करके जो सारभूत है जब सारभूतम तदुपासित अभियान जो संपूर्ण शास्त्रों का सार है उसकी उपासना करना चाहिए वैसे काशी में एक महात्मा के दयालु पूरे जी उनको शास्त्र समाधि रखी थी चारों ओर ग्रंथ रख के बीच में बैठ जाते थे और उनको शास्त्रों में क्या लिखा है इसकी स्पूर्णा हो जाती है कई महात्मा मैंने देखे कि उन्होंने देवताओं की उपासना की थी और उन्हें शास्त्र की स्पूर्णा होती थी पृष्ठ बता देते थे अमुक ग्रंथ के अमुक पृष्ठ की अमुक पंक्ति में ये बात लिखी हुई तो एक हुआ शास्त्र का आलंबन आलंबन भी अनेकता से एकता की ओर जाने वाला होना चाहिए और दूसरी हुई निसंकल्पता कोई न शास्त्र न व्यवहार प्रमाण प्रमेय के व्यवहार को छोड़ करके नेति नेति की वाक्य न शेषितम जत परम पदम ये नहीं ये नहीं ये नहीं नेति नेति के द्वारा निषेध करके अपने स्वरूप में बैठ जाओ निरस्त सर्वसंकल्प या शिलावल अवस्थिति जागरण निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूप स्थिति परा कोई भी संकल्प अपने मन में न उठ रहा हो शिला के समान स्थिति हो और न जागृत हो न निद्रा हो उसको स्वरूप स्थिति ही बोलते हैं स्थिति नहीं बोध इसको भी नहीं बोलते हैं जगताम वर्जय त्वताम शिलाया हृदय अमन अमनस्कम महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा जड़ता को छोड़ दो देह और विश्व की जो जड़ता है जो भी दृश्य है प्रकाश है उसका परित्याग करके जैसे कोई पत्थर हो संकल्प विकल्प से शून्य इस प्रकार विराजमान हो जाओ तो ऐसे रहना चाहिए इस प्रकार शास्त्रों में वर्णन सर्गादावे वनोत्पन्नम दृश्यम नास्ते व सर्वथा कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं दृश्य सर्वथा है ही नहीं इधन जगद अहन चेते जो ये जगत प्रतीत हो रहा है वो आत्मय है आत्म वेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम स्व वेदम सर्वम अहम वेदम सर्वम इस प्रकार उपनिषदों में आत्मचिंतन का निरूपण आता है तो ये तो है बोध के पहले ज्ञान होने के पहले संपूर्ण दृश्य का निषेध करके और अपने स्वरूप में भाव से शास्त्रानुसार बैठ जाना निसंकल्प हो जाना और जब बोध हो जाता है तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति चलना फिरना सोना ये सब का सब आत्मा ही है आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है ये बोध हो जाने के कारण आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है और ये आत्मदृष्टि नित्य प्राप्त होने पर भी अज्ञान से अप्राप्त मालूम पड़ती है अज्ञान की निवृत्ति होने से ये स्वतः सिद्ध होती है तो आप देखो जब प्रमाण प्रमेय का जितना व्यवहार जागृत अवस्था में हो रहा है प्रत्यक्ष अनुमान अनुमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि कोई कोई कुछ कम कुछ ज्यादा मानते हैं ये प्रमाण प्रमेय का जो व्यवहार है कि हम इन इन प्रमाणों से इन इन वस्तुओं को जानते हैं जैसे आंख से रूप को जानते हैं अनुमान से सुने को देखकर आग को जानते हैं गाय को देखकर गवय को जानते हैं ये जो प्रमाण की रीति है ये स्वप्न में जितनी भी होती है उसमें प्रमाण और प्रमेय दोनों मिथ्या हो जाते हैं सुसुप्ति दशा में प्रमाण और प्रमेय का सारा व्यवहार अज्ञान में लीन हो जाता है समाधि दशा में प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार निरुद्ध हो जाता है और उससे हमारा कोई संबंध नहीं है हम साक्षात दृष्टा हैं ये अनुभव होता है तो ये जो प्रमाण प्रमेय का व्यवहार जागृत अवस्था में चलता है इसको मिथ्या बताने के लिए स्वप्न है अज्ञान बताने के लिए सुशुक्ति है और इससे हमारा कोई संबंध नहीं है असंगता बताने के लिए समाधि है और आत्मा का ब्रह्म रूप में जो बोध है वो अद्वितीयता बताने के लिए है कि ये प्रमाण समय तो है ही नहीं केवल आत्मस्वरूप ही आत्मस्वरूप है विडम्बना तो ये है कि हम लोग अपने जीवन की केवल जागृत अवस्था को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और महत्व देते हैं तो शास्त्र का आलंबन लेकर के यदि अज्ञान को निवृत्त करना है तो बहुत बढ़िया है और निसंकल्प होकर बैठना है तो संसार का चिंतन मिटाना है और यदि आत्मदृष्टि हो गई तब तो सोअत बैठक पड़े उठाने कहे कबीर हम वही मिटाने जहाँ हो वही हो इसलिए शास्त्र का आलम्बन शब्द का आलम्बन है और योगी लोग तो इसको विक्षेप मानते हैं और भक्त लोग यदि भगवत वाचक शब्द है तो उसको राग द्वेष का निवर्तक मानते हैं और धर्म धर्मात्मा लोग जो हैं वो शास्त्र को विधि निषेध का प्रतिपादक मानते हैं और वेदांतिक लोग जो हैं वो तत्व पदार्थ के शोधन में वाक्यार्थ के विचार में शास्त्र को उपयोगी मानते हैं और अंततो गत्वा बिना शास्त्र के भी यदि कोई संकल्प विकल्प शून्य हो जाए या कदाचित आत्मज्ञान हो जाए तो आत्मदृष्टि में रहता है इसलिए इसका विचार बहुत सुंदर है और जहाँ तक हो सके अपने स्वरूप में स्थिति का ही प्रयास करना चाहिए किमित्विदादित्यमुन्नयति के च तस्याभितश्चरा कश्चैनपत्तं नयति कस्मिंश्च प्रतिष्ठति ब्रह्मादित्यमुन्नयति देवा तस्याभितश्चराः धर्मश्चास्तां च नयति च प्रतिष्ठति इसमें जो धर्म उसका अस्त करता है ये बात हाँ। यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत से प्रश्न किए थे पहले तो भाई लोग गए थे भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव उन लोगों के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आया तो वो मर गए अंत में युधिष्ठिर स्वयं जब गए अध्यक्ष ने उनसे प्रश्न किए और उनके प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने अब इसमें प्रश्न तो बहुत है परंतु ये धर्म शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं वेदों में एक मंत्र है धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण फलम अपनुदति धर्म सर्व प्रतिष्ठित तस्मा धर्मम परमम बदंते ये मंत्र है मंत्र का अर्थ है ये जो सारी दुनिया दिख रही है विश्व से जगता जो ये चराचर सृष्टि दिख रही है इसकी स्थिति कहाँ है प्रतिष्ठा कहाँ है इसकी वजह से ये टिका हुआ है तो बोले धर्म के कारण धर्मो विश्व जगत प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसंपत्ति जब कोई संसार में धर्मात्मा होता है तो सारी प्रजा उसका विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं उसकी सेवा करते हैं धर्मानुष्ठान करने से पाप का नाश हो जाता है और धर्म में सबकी प्रतिष्ठा है इसलिए परम तत्व धर्म ही है तस्मात धर्मम परम बदलते धर्म शब्द की दो है सीधे सीधे व्याकरण से प्राप्त होती है हरती इति धर्म बुद्धि धारण पोषण जो हमारा धारण करे और पोषण करे उसका नाम धर्म है धर्म का दूसरा शब्द ईश्वर ही है उसके सिवाय दूसरा कोई धर्म जैसा धर्म शब्द का अर्थ बोधक दूसरा शब्द नहीं है आजकल मुसलमान धर्म ईसाई धर्म सिख धर्म ऐसे जो बोलते हैं हिंदू धर्म ये तो धर्म के किसी आचार्य के द्वारा चलाए हुए किसी किताब में बताए हुए किसी परंपरा से आए हुए जो कार्यकलाप है उनके लिए धर्म शब्द का प्रयोग होता है हमारे शास्त्रों में धर्म का उपपद कोई नहीं होता हृदय श्रेय सिद्धि सधर्म धर्म के आगे न आर्य धर्म है न अनार्य धर्म है न हिंदू धर्म है न वैदिक धर्म है धर्म एक स्वतंत्र वस्तु है अर्थात तो धर्म जिज्ञासा न उसके साथ आर्ज लगता है न अनाज न हिंदू न मुसलमान ये सब तो छोटे छोटे धर्म हैं और हिंदू तो खास करके मजहब नहीं है जैसे मुसलमान मजहब है मोहम्मद साहब से चला कुरान कुरान शरीफ के आधार पर और ईसाई धर्म है ईसा के बाद चला वैदिक के आधार पर वैसे ये जो हमारा धर्म है ये किसी के द्वारा किसी काल में और किसी आदमी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक के द्वारा चलाया हुआ नहीं है धर्म तो साक्षात परमेश्वर का ही नाम है और वो सर्वोपरि है तो धरत इसी धर्म जो हमारी रक्षा करता है भारत पोषण करता है उस परमेश्वर का ही नाम धर्म है इसी से हम लोग जिसको धर्म मानते हैं आप थोड़ा ध्यान देना मैं जानबूझ के बात करा रहा हूं चोटी रखने वाला भी धार्मिक और न रखने वाला भी गृहस्थ चोटी रखेगा सन्यासी चोटी नहीं रखेगा ब्राह्मण जज्ञो कभी पहनेगा सूत्र नहीं परंतु दोनों एक है दोनों मनुष्य हैं कोई मूर्ति पूजा करेगा कोई नहीं करेगा कोई साकार मानेगा कोई निराकार मानेगा कोई गाय को मानेगा कोई नहीं मानेगा किसी के यहाँ धार्मिक रीति से विवाह होगा तो किसी के यहाँ पसंद की रीति से हो जाएगा कोई सत्तर पचहत्तर प्रकार के विवाह भारत में होते हैं लड़ाई का दो जने लड़ते हैं जो जीतता है उससे होता है लड़की जिसको आमंत्रित करती है उससे होता है ब्राह्म विवाह होता है आर्ष विवाह होता है तो ये जो हमारे धर्म का विस्तार है वो कोई मजहब नहीं है ये साक्षात ईश्वर रूप है इसलिए धर्म ही ब्रह्मा का रूप धारण करके हमारे मन में आता है वो प्रकट मनो नाम मनुष्य से विनिश्चयाकार धारणा हमारा मन ही ब्रह्मा बनता है और वही सूर्य का उन्नयन करता है और जितने देवता हैं इंद्रियां हैं मनोवृत्तियां हैं आंख देवता है कान देवता है त्वचा देवता है नाक देवता है देवता देवता है हाथ में इंद्र देवता है पाँव में विष्णु देवता है ये देवता जो है ये सब के सब प्रकाश स्वरूप जो सूर्य है उसके आसपास विचरण करते हैं और नारायण ये धर्म ही इस व्यावहारिक प्रकाश का सूर्य का सृष्टि स्थिति प्रलय का संचालक है इसलिए सत्य और धर्म धर्म सत्यम बदंतम धर्मम बदती इति आहो जो सत्य बोलता है उसको कहते हैं ये धर्म की बात कह रहा है वो सत्य क्या है तो सत्य तो वो है जिससे कार्य की ताल नहीं गलती सत्य तो वो है जिसमें देश विदेश कि कोई कारस्थानी नहीं चलती है सत्य तो वो है जिसमें मैं तू यह वह का भेद नहीं होता इसलिए सूर्य सूर्य कहाँ प्रतिष्ठित होता है तो सत्य में सत्य ही उसका स्थान है और उसके उदय और विलय का हेतु धर्माधर्म है धर्म ही जो है वो सूर्य को सूर्य बनाए रख, रखता है इसको आजान देवता बोलते हैं बोला अद्य हाँ। अद्य संभृता पृथिव्या रसाच विश्वकर्मण समर्तताग्रे तस्य त्वष्टा रूप में तस्य देवत्वम् आजानम् अग्रे ये पंचभूतों का सार है ये प्रकृति का सार है ये ईश्वर का रूप है सूर्य आत्मा जगत कस्तुत इसके उदय अस्त की क्रिया कैसे होती है ये धर्म के द्वारा ही संचालित होती है धर्म इतनी इतनी महान वस्तु है इसी के अनुसार इसका उदय और अस्त होता है और सत्य में परम ब्रह्म परमात्मा में इसकी प्रतिष्ठा है ओम शांति कर्म सिद्धांत के अनुसार अच्छे